पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादश अध्याय एकादश श्लोक तक उपचार हो गया है नहीं देवता सक्यम तक तो कर्मांड से सदा यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी दीयते पूर्व श्लोक में कहा है देह में आत्मबुद्धि जिसकी है मैं मनुष्य हूं ऐसी बुद्धि में जब तक है तब तक सारे कर्म त्यागना संभव नहीं है कुछ न कुछ कर्म होता रहेगा इष्ट अनिष्ट कर्म कुछ न कुछ होता रहेगा किंतु कर्म करके कर्म का फल त्यागने वाला ना श्रेष्ठ माना गया देहधारी के यदि देह भगवान है मनुष्य हो इत्यादि भावना से झगड़ा हुआ है <clears throat> उसके लिए कर्म त्यागने की अपेक्षा कर्म करना फल त्यागना यह श्रेष्ठ माना जाता है और देहभाव से जो ऊपर उठा हुआ है व्यक्ति <clears throat> वह कर्म की संभावना ही नहीं है वो तो कर्म ही त्यागेगा कर्म होना संभव नहीं है क्यों कर्म करने के लिए शरीर में मनुष्य आदि आने चाहिए उसमें भी ब्राह्मणत्व आदि जो भी हो अपने अपने कर्म के लिए आश्रम धर्म वर्ण धर्म आश्रम धर्म का आरोप करके कर्म होता है मैं अमुक वर्णी हूं अमुक आश्रमी हूं मेरे लिए कर्तव्य है ऐसा मान के किया जाता है तो शरीर भाव से जो ऊपर है वह न वर्ण है न आश्रम है तद अभिमान पूर्वक कर्म होना संभव ही नहीं है वो तो कर्म को ही त्यागेगा एक कर्म करता हुआ फल त्याग रहा है देहाभिमानी जो बना हुआ है तो कर्म अधिकार समझता कहता है तो फल की आशा नहीं करता ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करता है और दूसरे में देहाभिमान है ही नहीं तो देहाभिमान नहीं है तो कर्म हो नहीं सकता तो कर्म को ही त्याग देगा वो कर्म त्यागा हुआ उसने ज्ञान ज्ञानी जो होगा आत्मवित्ता ऐसा होता है तो ये कहा पूर्व श्लोक को कहा था नहीं देह प्रदाशक्यम त्यक्तुम कर्माण्य से यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी विधेयत करके देह देहाभिमान में है तो कर्म करता हुआ कर्म का फल त्यागने वाले के त्यागी शब्द से कहा गया श्रेष्ठ ने बताया था आगे टीका में कहते हैं उक्ताधिकारी सर्वकर्म संन्यास संभवे भी फलाभावे कुतस्त था जो तो उक्ताधिकारी के पूर्व में भाष्य में अंतिम में कहा गया था जो देहाभिमान से ऊपर हो चुका है वहां तो कर्म होना संभव है कर्म के त्याग का तो उक्ताधिकारी सर्वग्रह संन्यास संभव है कि माने वो जो आत्मवेत्ता पुरुष हो गया उसके लिए सारे कर्म का त्याग होने पर भी फलाभाव है कुतस्त से कर्तव्यता जो फल नहीं है फिर कर्तव्य क्या होगा उसके लिए तो क्या कर्तव्य होगा उसका माने यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी तो विद्यते करे कैसे बोल दिया उसके लिए पूर्ववादि ज्ञानी को पक्ष को लेकर के शंका उठा रहा है उपताधिकारी का पूर्व भाष्य के अंत में कहा था देहात्मवाद से ऊपर उठा हुआ उसके लिए कर्म नहीं है कर्म का संन्यास हो कहा वो अधिकारी है उस अधिकारी का सर्वकर्म संन्यास संभव है समूह कर्म का त्याग संभव है देहा में अभिमान नहीं है जिसका उसका होने पर भी फलाभाव है जब कर्म का फल है ही नहीं उसको तो फिर कुतः तो तस्य कर्तव्य फिर कर्तव्य तो कर्म कहा उसके लिए कैसे कर्म करेगा वो ये शंका आगे तो कहा ये शंका है क्यों पुनः तत्प्रयोजन हम वो प्रयोजन क्या उसका जो ज्ञान से ऊपर उठ चुका है जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है उसका कर्म करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा सारे कर्म त्यागना संभव नहीं जो कर्म का फल त्यागी होगा वही त्यागी होगा करके इस अंश को लेकर के पूर्व पक्ष शंका उठा रहा है किम पुनः तत्प्रयोजन तस्य प्रयोजनम तत्प्रयोजन उसका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा यद सर्वकर्म त्यागा सारे कर्म का त्याग से कौन प्रयोजन सिद्ध होगा यदि उच्चते ये उच्चते करके उत्तर देते भाई कर्म का फल तीन प्रकार का होता है खट्टा मीठा खटपिट ऐसे तीन प्रकार का होता है जो योग सूत्र आदि में शुक्ल कृष्ण शुक्ल शुक्ल कृष्ण ऐसा कर कहा तीन प्रकार कहा यहां पर तीन प्रकार से बोलते हैं माने पुण्य पाप मिश्रित तीन प्रकार के कर्म एक तो पुण्य कर्म एक पाप कर्म एक मिश्रित कर्म दोनों मिला हुआ तीन प्रकार के कर्म होते हैं कहते हैं कर्म का फल तीन प्रकार के कर्म तीन प्रकार का फल भी तीन प्रकार का होगा तो अत्यागी ना प्रत्यय होते बोलते जो त्यागी नहीं है कर्म फल को त्याग नहीं सकता मैं भोगता हूं करके रखा हुआ है मैं करता हूं भोगता हूं तो मरने के बाद में कर्म का तीन प्रकार में से कौन सा फल आएगा उसके पास मिलेगा न तो सन्यासी को जित बोलना चाहते हैं जो कर्म को त्याग बैठा फल को त्यागा है कर्म त्यागा तो फल त्यागा ही है उसके लिए कभी तीन प्रकार के फल भोगना पड़ेगा यही है अनिष्ट मिश्रम अनिष्ट अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिपिड़म कर्मण फलम भवत्य त्यागिना न तो संन्यासिनाम क्वचित अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य नाम प्रत्य संन्यासी नाम क्वचित अनिष्टम इष्टम मिश्रम च एक अनिष्ट कर्म का फल अनिष्ट कर्म फल भी अनिष्ट ही होगा पाप कर्म नरक आदि यात्रा भोगनी होगी इष्टम एक इष्ट फल मन पुण्य कर्म का फल स्वर्ग आदि प्राप्त होगा देव शरीर आदि प्राप्त होगा अब मिश्रम मिश्रित फल जो मनुष्य शरीर प्राप्त हो रहा है पुण्य पाप के समानता होने पर मनुष्य शरीर होता है ऐसे मानते हैं तीन प्रकार के फल है माने आर के योनि में जाना देवादि योनि में पहुंचना अथवा मनुष्य योनि में आना तीन प्रकार के कर्म का फल होता है कर्म का फलम त्रिविधम कर्म का फल तीन प्रकार है अनिष्ट है इष्ट है मिश्र है अत्यादि नाम प्रत्यभवती जो कर्म को फल को त्याग नहीं पा रहा है जो मैं भोगता हूं ऐसा करता हूं भोगता हूं रखा है उसको मरने के बाद वो फल मिलेगा तीन प्रकार के फल मिलते हैं जैसा कर्म किया होगा अनिष्ट होगा कर्म तो फल भी अनिष्ट मिलेगा इष्ट कर्म किया होगा पुण्य कर्म किया होगा देवादी शरीर मिले और विस्तृत कर्म होगा पाप पुण्य मनुष्य शरीर फल यही होते हैं तीन प्रकार के शरीर फल होता है तीन प्रकार के कर्मों का अत्यागी नाम प्रत्यय भवती जो त्याग नहीं पा तो रहा कर्म के फल त्याग नहीं सकता उसको मरने के बाद होता है फल तू मरे किंतु न सन्यासी नाम को चित जो कर्म को त्याग बैठा है त्यागी है कर्म ही नहीं करेगा तो कर्म का फल कहां से आएगा कर्म क्यों नहीं करता वो भाव से ऊपर हुआ है उसकी स्थिति भाव में नहीं है देहात्मभाव से ऊपर है ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ है वहां सन्यासी कर्म होना ही संभव नहीं तो कहां से फल होगा ये तीन प्रकार के फल उसको नहीं मिलता और जो असन्यासी होगा मान त्यागी अत्यागी होगा कर्म के फल को त्याग नहीं पा रहा जो मैं भोक्ता हूं करके रखा हुआ है भोक्तृत्व का रखा है उसको मरने के बाद फल तीन प्रकार में से कोई एक फल भोगना पड़ेगा ये कहना है अनिष्टम भाष्य में कहा अनिष्टम माने नरक त्रेगादि लक्षण इष्टम देवादि लक्षण मिश्रम इष्टादिष्ट संयुक्त मनुष्य लक्षण इत्यादि कहा अनिष्ट वाले नरक त्रियक आदि लक्षण का नरक नारकीय योनि में जाना अथवा तिरक आदि पशु पक्षी आदि योनि उसमें जाना यह अनिष्ट कर्म का फल होगा पाप कर्म का फल होता है और इष्टम मैंने देवादि लक्षण देवादि शरीर को प्राप्त होना इष्ट का पुण्य कर्म का फल देवादि शरीर को प्राप्त होना और मिश्रम मन अनिष्ट समझ इष्ट भी अनिष्ट भी दोनों कर्म मिला हुआ है उसका फल होगा मनुष्य लक्षण कहा मनुष्य लक्षण एवं त्रिविधम त्रिप्रकारम त्रिविधम का अर्थ इस प्रकार तीन प्रकार का फल है कर्म का फल त्रिप्रकार कर्मणो धर्म लक्षण से दो दो प्रकार के कर्म किया था पाप पुण्य लक्ष्य स्वरूप जो कर्म है यदि पाप किया है तो माने तिरक नरक आदि लक्षण होगा वो कर्म नार की योनि मिले अथवा पशु पक्षी का योनि मिले ऐसी स्थिति होगी और पुण्य कर्म किया होगा धर्म किया होगा देवादि शरीर मिलेगा फल और विस्तृत होगा दोनों पाप पुण्य दोनों विस्तृत कर्म हो तो मनुष्य शरीर को प्राप्त होता ही कहा है वो फल यही है तीन प्रकार के फल धर्माधर्म लक्षण से कर्म का फल तीन प्रकार कौन सा धर्माधर्म स्वरूप जो कर्म है कर्म तो दो ही प्रकार है धर्म और अधर्म रूप है किंतु फल तीन प्रकार हो जाता है फलम कहा बाह्य अनेक कारक व्यापार निशक्तम ऐसा फल है बाहर के जो अनेक प्रकार के कारक है कारण है कर्ता है अधिष्ठान है कर, अनेक मिलने के बाद कर्म होता है पांच कारण बताएंगे कोई भी कर्म होगा पांच कारण होगा अधिष्ठान तो अगले श्लोक में आएगा पांच कारण होते हैं बाहर है जो हम्म, शरीर से बाहर अनेक प्रकार के हैं बाह्य अनेक कारक अनेक प्रकार के कर्ता कारक है कर्म कारक है कर्म कारक है यानी कितने कारक मिलकर के कर्म होता है वो कर्म बाह्य अनेक कारक व्यापार उनका मान कर्ता आदि का जो व्यापार करता है करण है अधिष्ठान है इत्यादि जो इनका व्यापार तत्त व्यापार अलग अलग होता है सबका मिलकर करके एक कर्म होता है व्यापार से निशक्त है संबंध है जो कर्म निशक्तम सत संबंधित होता हुआ कर्म कृतम अज्ञान के कारण किया हुआ कर्म है यदि आत्मा का ज्ञान होता तो कर्म नहीं होता क्यों देहाभिमान के बिना कर्म नहीं हो सकता आत्मज्ञान होने पर देहाभिमान समाप्त है तो अविद्या के द्वारा किया गया जो कर्म है कैसा है इंद्रजाल मायोपमों का है इंद्रजाल मैंने जादू जो जादूगर है क्या दिखाता है माया दिखाता है न होता हुआ वस्तु को सामने दिखाई दिखाई देने की शक्ति होती उसके पास वस्तु वास्तव में नहीं है तो इंद्रजाल मायोपम कहा इंद्रजाल के जो इंद्र जादूगर है उसके माया के समान है ये सब कर्म ऐसे है वास्तव में देखा जाए तो कर्ता आदि वस्तु होते ही नहीं सब एक ही आत्मा होता है कोई वस्तु होता ही नहीं उसके द्वारा रचित कर्म ऐसा है माया के द्वारा किया गया कर्म है अज्ञान से किया हुआ है माया है उपमा जिसकी कहा महामोह कर्म महान मोह में डालने वाला होता है कर्म प्रत्येगात्मा उपसर्भी सर्पी यह फलकुतया लयम अदर्शन गच्छति इव इत्यादि आया तो प्रत्येगात्मा के तरफ है कर्म दिखता है भाषता है कर्म अन्यत्र हो रहे आत्मा के तरफ दिखता है कर्म होना बुद्धि आदि में है शरीर आदि में है उन कर्मों को आत्मा में आरोपित हो जाता है प्रत्येगात्मा उपसर्पी मान प्रत्येगात्मा के तरफ भाषता हुआ होता है कर्म आत्मा में कर्म नहीं है आत्मा निष्कर्मा है किंतु वह भासता है यह यहां पर फलगुतया लयम अदर्शनम गच्छति व कहा फलगु मारे कैसा है सार नहीं है इसका कोई सार नहीं कर्म का फल रहित है इस फल है ऐसा कर्म है लयम अदर्शनम गच्छ देखते देखते ही नाश और छिप जाता ऐसा है कर्म अदृष्ट दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला है पहले नहीं था पर थोड़ा देखा बाद में नष्ट हो गया गच्छति ऐसा जाता हुआ फल ऐसा फल है फल कोई स्थायी नहीं है कोई भी शरीर मिलेगा अमुक या पुत्र हो गया बोलेंगे चाहे देवादि शरीर हो चाहे मनुष्य शरीर हो चाहे पशु आदि शरीर हो संतान हो गया और कुछ दिन बाद अब तो चल बसा लह हो गया पहले अदृष्ट अवस्था में होता है बीच में दृष्ट अवस्था में आता है आगे फिर अदृष्ट अवस्था में जाता है नष्ट अवस्था में जाता है अदृष्ट नष्ट स्वभाव वाला होता है कोई भी शरीर आदि होते हैं पहले दिखाई नहीं पड़ता उसके बाद दिखता है उसके बाद फिर नष्ट हो जाता है फल को तो का सार रहित होने से लयम अदर्शनम गच्छति वका अदर्शन होता हुआ सा लगता है न होता हुआ लगता है होता हुआ दिखता हुआ न होता हुआ पहुंचता है ये कर्म का फल इस प्रकार तीन प्रकार के शरीर कर्म का फल बताया तीनों ऐसे ही आए कोई भी पहले अदृष्ट अवस्था में रहता है तो प्राणी कुछ दिन के लिए दृष्ट अवस्था में आ जाता है फिर आगे नष्ट अवस्था में जाता है यही होता है फल ऐसा फल है अदर्शन अभाव को जाता हुआ ऐसा फल है फल निर्वचन फल का कथन है जिसका कर्म का तदेत एवं लक्षणम फल इस प्रकार का जो फल है अदृष्ट दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला है फल फलम भगवती ऐसा फल होता है जिस कर्म का फल ऐसा है सार नहीं है जिस फल पे सार है फलगु है फलगु है असार वस्तु को फलगु बोलते हैं कोई सार नहीं जिसमें भगवती अत्यागी राम कहा ऐसे जो फल है अत्यागी को होता है कर्म के फल को त्याग नहीं सकता उसको ये फल मिलता है अज्ञानम अत्यागी राम अर्थ अज्ञानम जो अज्ञानी लोग हैं ना उनको ऐसा फल होता है कौन है अज्ञानी का कर्मिणाम जो कर्म करने वाले हैं मैंने शरीर भाव में है कर्म कर रहे वही है अपरमार्थ सन्यासी नाम परमार्थ सन्यासी वास्तविक सन्यासी नहीं है ऐसे सन्यासी है अपरमार्थ सन्यासी नाम प्रत्यय शरीर पाता तो ऊर्धम भवती ऊर्धम भवती यही है प्रत्यय बदले शरीर पात के आगे हो जाते शरीर विनाश के बाद ये फल मिलता है वो जैसा कर्म किया होगा धर्मा धर्मादि लक्षण धर्म किया हो तो देवादि शरीर होगा अधर्म किया हो तो नारकीय शरीर या तिरी का योनि आदि शरीर होगा विस्तृत किया होगा तो मनुष्य शरीर आदि होगा फल और कैसा फल है वो अदृष्ट नष्ट स्वभाव वाला है अदृष्ट दृष्ट नष्ट स्वभाव कोई भी शरीर संसार में देखा जाता है पूर्व अवस्था अदृष्ट रूप में रहता है नहीं है और कुछ काल के बाद में दृष्ट हो जाता थोड़े थोड़ी दिन के लिए फिर आगे नष्ट हो जाता है ऐसा शरीर फल मिलेगा ये कहा फल मिलता है कहा न तो सन्यासी नाम क्वचित चतुर्थ पाद के द्वारा बोलते हैं न तो सन्यासी नाम क्वचित जो सन्यासी होगा कर्म ही नहीं किया फल भी नहीं किया उसके लिए कोई फल मिलना संभव नहीं है ऐसा फल जो फल है सार नहीं जिस फल में सार नहीं है ऐसे फल सन्यासी को नहीं मिलता कैसा सन्यासी बने न तो परमार्थ सन्यासी राम वास्तविक सन्यासी जो होगा देवाप से ऊपर की स्थिति में जो होगा परमार्थ सन्यासी नाम परमहंस परिप्राजका नाम उसी का विशेषण है जो परमहंस परिप्राजक है इनको केवल केवल ज्ञान निष्ठा नाम केवल ज्ञान निष्ठा में बैठे हुए जो लोग हैं देहादि बुद्धि में नहीं है कर्मनिष्ठा में नहीं केवल ज्ञान निष्ठा में बैठे हैं क्वचित हाँ, उनको न तो क्वचित कभी उनको नहीं होता है फल आगे शरीर ले लेना होगा कोई भी शरीर नहीं आएगा धर्माधर्म समाप्त करके बैठे हैं वो अपने ज्ञान के द्वारा नहीं केवल सम्यक दर्शन निष्ठा अविद्यादि संसार बीजम न उन्मूलयती कदाचित देखो केवल सम्यक दर्शन निष्ठा जिसमें केवल सम्यक आत्मज्ञान में निष्ठा जिनकी है ऐसे लोग बहुवचन है प्रथमा बहुवचन अविद्यादि संसार बीजम अविद्यादि संसार के बीज है ये संसार के बीज होते हैं अविद्या काम कर्म काम कर्म यही होते हैं संसार के बीच अज्ञान है तो तब तक विषय की इच्छा उस विषय की इच्छा पर उस फिर उसके अनुकूल कर्म करेगा फिर फल यही होता है तो अविद्यादि आदि से जो इच्छा और कर्म काम कर्म और इच्छा अविद्यादि संसार बीजम अद्वियादि संसार के बीज हैं न उपलमयंती कदाचित न उन्मलयंती उनका उन्मूलन नहीं करते हैं ये बात नहीं ज्ञान निष्ठा वाले व्यक्ति को समाप्त कर देते हैं अविद्या जो संसार के बीज थे उनको उन्मूलन कर देते हैं वो उखेड़ के फेंक देते हैं न उन्मूलयती थी न पूर्व में नकार है उन्मूलन नहीं करते ये बात नहीं उन्मूलन करते हैं ये कहा हुआ है ठीक है हमें कहते हैं गौण से मुख्य सेवा संन्यास से फलम प्रपिक्षितम इति बारह विकल्प अधिकार है किस सन्यास के फल चाहते हो गौण सन्यास या मुख्य सन्यास कौन सा सन्यास है इस सिद्धांत बोलते हैं किस सन्यास के बारे में पूछ रहे हो गौण से मुख्य सेवा संन्यास से गौण संन्यास के मुख्य संन्यास के बारे में तो फिर शिष्यतम पूछना इष्ट है तुमको प्रश्नों इष्टम तो फिर शिष्टम पूछना इच्छा थी विकल्प यदि सिद्धांत विकल्प करे उच्चते ग्रंथ से कहते हैं दो विकल्प है तीन पाद के द्वारा तो होगा कि कर्म का फल होगा कर्म का फल भोगना पड़ेगा ये बोलेंगे तीन अंतिम चतुर्थ पाद से उसका नृत्य सन्यासी नाम घोषित करके बोलेंगे यही है मुख्य सन्यासी के लिए सर्वकर्म त्यागो नाम सारे कर्म का त्यागना मैंने क्या है सर्वकर्म त्यागो नाम तद अनुष्ठान भी तत्फलाभिसंधि त्याग यही है सारे कर्म का त्याग करना माने क्या है एक तो है एक कर्म का ही त्याग करता है एक कर्म करता हुआ फल का त्याग कर रहा है अज्ञानी कर्म तो करता है फल का त्याग विवेकी अज्ञानी होगा जो थोड़ा समझदार अज्ञानी होगा कर्म तो करेगा उसका फल का त्याग करेगा और जो ज्ञान हो चुका है आत्मज्ञान वो क्या करे कर्म को त्यागेगा मुख्य सन्यासी कर्म त्यागी है कर्म करता हुआ फल त्यागी गौण सन्यासी है उसको भी सन्यासी कहा जाता है त्यागी कहा हुआ है तो कहते हैं सर्वकर्म त्यागो नाम सारे कर्म का त्याग माने क्या प्रश्न आता है तो तद अनुष्ठान भी कर्म का अनुष्ठान करने पर भी कर्म तो कर रहा है करने पर भी तत्फलाभिसंधि त्याग फल के अभिलाषा का त्याग करना यही है सर्वकर्म त्याग शब्द का यही है ये गौण सन्यासी है सच अमुख्य सन्यास उस सन्यास को मुख्य सन्यास नहीं कहा जाएगा कर्म कर रहा अभी देहात्म बुद्धि है उसकी ईश्वरार्थ प्रवृत्ति से कर्म कर रहा है मुख्य संन्यास नहीं हो पाया वो कर्म कर रहा है हाँ। फल को त्याग है उसने या मुख्य सन्यासी यही है मुख्य संन्यास तस्य फल उसको फल बोलते बताते ये तीन प्रकार के फल उसको मिलते हैं जो अन्य सन्यासी कहा अत्यागी को त्याग नहीं सकता उसको अमुख्य हाँ, संन्यास के लिए कहते हैं मान फल त्याग नहीं कर पा रहा है कर्म कर रहा है फल फल भी नहीं त्याग पा रहा उसको कहा गया ये अनिष्टम इत्यादि कहा हुआ है अनिष्टम भाष्य का अनिष्टम नरक तेगादि लक्षण इष्टम देवादि लक्षण इत्यादि कहा था मान तीन प्रकार के कर्म खबल होता है अनिष्ट कर्म का फल अनिष्ट ही होगा तेग नरकादि स्वरूप होगा शरीर होगा और इष्ट कर्म का फल होगा देवादि फल मिलेगा देवादि शरीर में पहुंचेगा कर्म का फल होगा इष्ट अनिष्ट वृत्ति जो होगा उसका मनुष्य लक्षण फल यही है तीन प्रकार के फल कहा हुआ है मुख्य तो संन्यास है कर्म त्यागे संव्यक्ति द्वारा सर्व संसार उचित फल मुख्य संन्यास होगा आत्मभाव में पहुंचा हुआ है शरीर भाव में नहीं है ऐसी स्थिति में जो मुख्य तो संन्यास है सर्वकर्म त्यागे कोई कर्म नहीं करता जो आत्मभाव में पहुंचे हुआ कर्म होना संभव ही नहीं है सारे कर्म छूट जाते हैं उसके सर्वकर्म त्यागे सम्यग्धि द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा सर्व संसार उच्छित फल सारे संसार उच्छेद हो जाना विच्छेद हो जाना ये फल होता है कोई संसार नहीं रहेगा उसको इतिहास न तो सन्यासी हमको जित करके मूल में कहा हुआ है कोई सन्यासी को नहीं होता ये फल तीनों फल तीन प्रकार के फल कोई भी फल प्राप्त न होंगे जो धर्माधर्म समाप्त कर दिया उसने धर्माधर्म के कारण जो था अविद्या उसी को समाप्त कर रखा है तीनों प्रकार कर्म का फल होना संपूर्ण का पादत्रयम व्याकरोति कहते हैं मूल में जो तीन पाद हैं अनिष्टम इष्टम विश्रम च त्रिविधम कर्म फलम भवती अत्यागिना प्रत्यय ये तीन पाद इसकी व्याख्या करते हैं भाष्य में कहा अनिष्टम नरक त्रियगादि लक्षण इष्टम देवादि लक्षण इत्यादि कर रहे हैं तिरगादि इति आदि पदम तिरगादि दिया नरक त्रियगादि में आदि लगा दिया तो आदि से क्या लेना है तिरेगादि आदि पदम अवशिष्ट निकृष्ट योनि सब बाकी जो बचे हुए तुच्छ योनिया जितने हुए उसको लेना है आदिपद के द्वारा केवल नरक और तिरेगा त्रिका मात्र नहीं और भी जितने छोटे छोटे हैं तुच्छ जो योनिया हैं उसको प्राप्त करना ये कहना चाहते हैं देवादि का देवादि लक्षण इष्ट कर्म का फल होगा इष्ट देवादि लक्षण होगा वहां भी आदि लगाया हुआ है देवादि आदि पदम अवशिष्ट उत्कृष्ट योनि ग्रहण आया जो और भी विशेष जो योनिया है विशेष विशेष है उत्कृष्ट योनिया उनको ग्रहण के लिए आदि लगाया देवादि में आदि ऐसा है विभाग करना कहा फल शब्दम फलम आया हुआ धर्माधर्म रक्षण फलम कहा हुआ है फल शब्दम व्याकृत इत्यादि कहना चाहते हैं फल शब्दम व्युत्पादित फल शब्द का अर्थ क्या कहते हैं व्युत्पन्न कहते हैं बाह्य देखो फल ऐसा नहीं मिलेगा अनेक प्रकार के कारक के द्वारा कर्म करके तैयार किया जाता फल को अनेक से जो होगा वो सही नहीं हो पाता अनेक व्यक्ति हैं कर्ता कारण है कर्ण कारक है अधिकरण कारक है हाँ। और और भी कई कारण मिलकर के कर्म होता है केवल एक व्यक्ति से कर्म नहीं होता कोई भी कर्म करना हो जैसे देवदत्त पचती बोलते देवदत्त पकाता है भोजन बनाता है तो क्या देवदत्त कुछ भी नहीं हो उसके पास पकाएगा पतीली चाहिए पानी चाहिए चावल चाहिए अग्नि चाहिए हम्म, चूल्हा चाहिए उठा करके रखना पड़ेगा निकालना पड़ेगा तब पकता है वो कई कई कई वहां लगे हुए हैं तब वो एक कर्म की सिद्धि होती है कर्म निष्पादन ऐसा नहीं होता एक से नहीं होता अनेक मिलकर होता है स्थिति तो ऐसी है ऐसे यहां भी है बाह्य आया उसी को फल की व्याख्या करते हैं बाह्य अनेक कारक व्यापार निशक्तम फलम यही होगा बाहर में जो अनेक प्रकार के कारक हैं कर्तादि कारक अनेक प्रकार के हैं उनके व्यापार भिन्न भिन्न व्यापार भिन्न भिन्न व्यापार संबंधित तो फल होगा सर अविद्याकृतम अज्ञान के द्वारा रचा हुआ फल होता है कर्मों का फल अज्ञान से रचित है वास्तव में है ही नहीं कर्म ही नहीं कहां से फल होगा इंद्रजाल मायोपम में कहा था इंद्रजाल के माया के समान है फल न होता हुआ दिखना भाषना जादूगर जो दिखाता है वस्तु नहीं होता वहां केवल दिखता है दर्शकों को दिखाई पड़ता है सत्य लगता है उस काल में किंतु थोड़ी देर बाद गायब हो गया ऐसे ही है कर्म अज्ञान में डालने वाले आश्चर्य में डालने वाले फल होते हैं है ही नहीं फिर भी लोभ में डाल देते हैं स्वर्ग है करो इत्यादि सर्पी यह फल बताया कर रहे हैं आत्मा की तरफ गया हुआ होता है बाह्य कारक से तैयार है ये किंतु चेतन आत्मा की तरफ पहुंचा हुआ सा लगता है कर्तव्य भोक्तृत्व बना हुआ दिखता है फल बताया माने जिसका कोई फल नहीं है उसको फलगु बोलते हैं निष्फलता निष्फलता या यही होता है लयम अदर्शन गच्छती बका लय होता हुआ मैंने अदर्शन भाव को जाता हुआ फल ये फल होता है कर्म का फल इति फल निर्वचन फल शब्द का निर्वचन यहां तक हुआ है बाह्य अनेक कारक इत्यादि से लेकर यहां तक फल शब्द का कथित हुआ तदे तद एवं लक्षण फल इस प्रकार जो फल है फल को फल है सार नहीं है जिस फल में कोई सार नहीं है भगवती अत्यागी नाम अज्ञान अज्ञान कहा जो अत्यागी है कर्मफल को त्याग नहीं पा रहे भोक्तृत्व बना लिए बैठे हैं उनके लिए मरने के बाद वो फल मिल जाता है ये कहा भाजता है कर्मिणाम कहा कर्मियों को ऐसा होता है मीमांसक आदि को लेकर कहा कर्मफल के लिए मरते हैं मीमांसक लोग परमार्थ सन्यासी नाम परमार्थ सन्यासी वो नहीं आए परमार्थ सन्यासी वास्तविक सन्यासी नहीं है वो प्रत्यय शरीर पाता दूरम भवती यही है प्रत्यय माने शरीर पात के पश्चात वो कर्म का फल होता है उनको ये कहा है ठीक है हम कहेंगे कर्ण द्वारकम अनेक विधत्व उक्वा कर्ण के द्वारा अनेक प्रकार कहा अनेक बाह्य कहा था बाह्य अनेक कारक इत्यादि कहा था बाह्य अनेक कारक व्यापार होता भिन्न भिन्न इंद्रियों के द्वारा कर्म किया जाता है एक ही सभी में एक ही इंद्र का प्रयोग नहीं होता कई तरह से जिसको देखने का कर्म हो तो चक्षु का प्रयोग होगा सूंघने का हो ग्रहण का प्रयोग होगा भिन्न भिन्न इंद्रियों के प्रयोग से कर्म सिद्ध होता है इत्यादि है वो अविद्याकृतम कहा इसलिए अविद्याकृतम अविद्या के द्वारा किया हुआ होता है कर्म इत्यादि क्यों जो इंद्रिया जो इंद्रिया है वो अविद्या के द्वारा रची हुई है अविद्या का कार्य है उसके द्वारा जो कार्य होगा अविद्या कृत है वो मूल कारण अविद्या है कर्म यही कहा तत्कृतत्व न अविद्या कृतत्व तत्कृतत्व न अविद्या कृतत्व न अविद्या के द्वारा रचा हुआ होने से दृष्टिमात्र देह होते इसका शरीर कर्म का जो फल होगा ना दृष्टिमात्र ही देह है शरीर है देखना ही है खाली मिलना गुजना ही है दिखना ही है उसका शरीर दृष्टि मात्र है दर्शन मात्र है कुछ तो मिलना नहीं सार नहीं है दृष्टि मात्र है दृष्टि मात्र देहत्व दृष्टांत वह दृष्टि मात्र शरीर है उस कर्म कर्म का फल का उस दृष्टांत दिया इंद्रजाल मायोपम कहा हुआ है इंद्रजाल के मान जादू के माया के समान है फल दृष्टि मात्र रहता है मिलता कुछ नहीं वहां ऐसा मानते हैं प्रतीतितो रमणीय तो स्वदेह देखने में अच्छा लग ऊपर ऊपर से अच्छा लगता है केवल देखने में अच्छा लगता है मिलता कुछ नहीं है जैसे बारिश हो रही हो उसके बाद में सू, सूर्य आ जाता हो तो ये कई रंग आ जाता है ना वहां तो जल और उसके मैंने सूर्य के किरण और जल के माध्यम से कई रंग बन जाता है वहां तो उसका स्वरूप दृष्टि मात्र है आई ना कुछ भी नहीं वहां थोड़ी देर में लय हो जाता है दृष्टि मात्र स्वरूप वाला होता है ऐसा बन जाता है तो ठीक इस प्रकार कर्म का फल होता है कर्म का फल दृष्टि मात्र ही है देखना मात्र है मिलता कुछ नहीं है जादू इसलिए जादूगर के माया के समान कहा हुआ है यही है महामोह कर्म कहा ऊपर ऊपर से अच्छा लगता है यही कहा प्रतीत तो रमणे देखने से अच्छा लगता है क्योंकि सार कुछ आई ना इसलिए महामोह कर्म करके वासी में कहा हुआ है अविद्वत्थ से अविद्याश्रितत्वात्म आत्माश्रितत्व वस्तु तो नास्ती देखो आत्मोपसर्पी ही कहा हुआ है आत्मोपसर्पी कहा वास्तव में अविद्या के द्वारा बन रहा है कर्म का फल क्यों जिससे कर्म हो रहा है कारण आदि इंद्रियों के द्वारा वो इंद्रिया अविद्या के कार्य है तो कर्म भी अविद्या का कार्य अविद्या के द्वारा रचा हुआ होता है बोल कारण अविद्या है तो अविद्याकृत होने से अविद्वत्त से अज्ञान से उत्पन्न है कर्म का फल जो दिख रहा है अविद्या आश्रित तो अविद्या में आश्रित है वास्तव में कहा है मिट्टी में जो उत्पन्न घट है वो कहां आश्रित तो मिट्टी में होता है इसी प्रकार अविद्या से उत्पन्न है तो वास्तव में अविद्या में ही कर्म जो होता है वह आत्मा में दिखता है हम्म, मैं करता हूं मैं भोगता हूं ये कहा अविद्वत्त से जो अविद्या से उत्पन्न हो ये फल अविद्याश्रितत्व वास्तव में दृष्टि से तो अविद्या में ही आश्रित है वो तो जिसे उत्पन्न होगा उसी में आश्रित होता है उसके उपादान कारण अविद्या है आत्माश्रितत्व वस्तु तो नास्ती आत्मा में वास्तविक नहीं है आश्रित नहीं है वास्तव में औपाधिक भाषा है आत्मा में कोई कर्म का फल होता ही नहीं है असंग आत्मा में कहा से कर्म का फल आएगा नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं यहां प्रत्यगात्म उपसर्पी कहा माने हाय तो दूसरे के दूसरे में आश्रित है दिखता यहां आत्मा में दिखता भाषता है ऐसा है कर्म का फल प्रत्येगात्मक उपसर्पी यही कहा था प्रत्येगात्मा के तरफ दिखने वाला यह एक यहां पर एक फल होता है कहा उत्तम फलम कर्मिणा मिश्रते जो कहा गया जो फल है ती, तीन प्रकार का जो फल बताया इष्टम अनिष्टम मिश्रम यह कर्मणा विषयते चेत यदि कर्मी को ही माना जाता है फल कर्म करने वाला जो होगा उसी को माना जाता हो तो अमुक से संन्यास फलोक्त परत्वम पादत्रय कथम फिर अमुख्य संन्यास फल पर तीन पाद का अर्थ कैसे होगा मुख्य संन्यास लेना पड़ेगा यदि फल कर्मी को ही होता हो ज्ञानी को नहीं होता हो तो दो प्रकार के सन्यासी नहीं हो रहा है तीन प्रकार के फल जब कर्मी को ही मिल रहा है तो फिर मुख्य सन्यासी तो रहा ही नहीं उसी को सन्यासी बोलना होगा फिर मुख्य सन्यासी पर कैसे बनेगा वाक्य कैसे घटाएंगे वहां ये प्रश्न आया है उक्तम फलम मिश्र थे जो कहा गया जो तीन प्रकार का फल है इष्ट अनिष्ट मिश्र वह कर्मणा विषयते यदि कर्मियों का ही यदि माना जाता है फल अज्ञानियों का है यदि चेत अमुख्य संन्यास फलत्व फल उक्ति परत्व पात्र से कथम फिर अमुख्य संन्यास का फल कैसे मानेंगे तीन बार का जो अर्थ होगा अनिष्टम इष्टम मिश्रम से त्रिवत कर्म फल भवत्य त्यागिना प्रत्यय अमुख्य संन्यास के लिए क्यों माना जाएगा ये पूर्वादि की संज्ञा आ गई तो उत्तर देते हैं अपरमार्थ कहा हुआ समय कहा अपरमार्थ सन्यासी नाम प्रत्यय शरीर पाता तो उर्धव कहा अपरमार्थ सन्यासी है जो उनके लिए होगा अत्यागी है त्याग नहीं पा रहे कर्म के फल को ये कहा न तो सन्यासी नाम को इत्यादि कहेंगे ठीक है कहा फलाभिसंधि विकला नाम नाम देह पाता ऊर्धम फल के आसक्ति से जो विकल है फल की आसक्ति है जिनकी फलापि संधि विकला नाम फला संधि से रहित जो कर्मी है ना कर्म करे फला संधि का अभाव है जिनमें ऐसे कर्मियों का देह पाता ऊर्धम कर्मानुदन फलमा फला फलाभिसंधि विकला नाम फला फल की इच्छा से विकलता है जिन कर्मियों को फल के अभिलाषा करके बैठे हैं ऐसे कर्मियों को देहपाता तो ऊर्धम कर्मानुदि फलम आवश्यक देहपात के आगे माने कर्म का फल आवश्यक है उनको मिलेगा ही ये कहा कर्मिणाम एवं सताम कर्मी होते हुए जो लोग कर्म कर रहे हैं अभी देहाभिमान पूरा गया नहीं है कर्मिणाम एवं सताम कर्मी होते हुए ही अफलाभिसंधि नाम जो फलाभिसंधि से रहित हैं फल की अभिलाषा से रहित हैं अमुख्य तो अमुष्य सन्यासी मुख्य सन्यासी नहीं कर्म त्यागा ही नहीं जिन्होंने कर्म तो कर रहे हैं सन्यासीत्वाद तो तदीय अमुख्य सन्यास जो अमुख्य संसार के जगह फल त्याग कर रहे हैं कर्म कर रहे हैं उनका फल मुक्त आइए फल कथन का चतुर्पाद व्याचस्ते चतुर्पाद का व्याख्या करते हैं कहा न तो संन्यासी नाम को सीधे कहा हुआ है अमुख्य संन्यासम अनंत संन्यासम संन्यासम अनंतर प्रकृतम व्यवच्छिन्नति कहते हैं अमुख्य संन्यास जो है ना अभी अभी आया हुआ का जो व्यवच्छेद कर देते हैं अमुख्य संन्यास अभी अभी कहा हुआ था तीन तीन पाद के द्वारा उसको व्यवच्छेद करते हैं परमार्थ करके सब जो परमार्थ सन्यासी वास्तविक सन्यासी है न तो परमार्थ ये तू शब्द के द्वारा व्यवच्छेद किया पृथक कर दिया किसका अमुख सन्यासी से पृथक है ये न तो परमार्थ सन्यासी नाम जो वास्तविक सन्यासी है परमंश परिपराज का नाम <clears throat> माने आत्मान आत्म विवेक में परमहंस के समान है छानबीन करके बैठे हुए हैं और अनात्मा भाव से अपने को पृथक करके बैठे हुए हैं केवल ज्ञान निष्ठा न क्वचित केवल ज्ञान निष्ठा जिनकी उनमें ये कर्म का फल होता नहीं है ठीक ठीक है कहते तेसाम प्रधानम धर्म उपदेश थे वो जो परमार्थ सन्यासी है ना तेसाम परमार्थ सन्यासी ना प्रधानम धर्म मुख्य धर्म का उपदेश करते हैं क्या है केवल इत्यादि का केवल सम्यक दर्श निष्ठा उनको तो केवल कर्मादि में निष्ठा नहीं है उनकी कहा निष्ठा है आत्मज्ञान निष्ठा है केवल सम्यक दर्श निष्ठा ऐसा क्वचित देश काले व नास्ती यथोक्त बल तेसा क्वचित गए ना न तो सन्यासी नाम क्वचित आया क्वचित माने चाहे किसी देश में किसी काल में हो कहीं भी नहीं किसी देश में भी नहीं किसी काल में भी नहीं क्या कर्म का फल नहीं होता उनको क्वचित देश है काले व नास्ती यथोक्तम फलम कुरुते जो फल है वो फल इनको नहीं होता ये कहा तरी परमार्थ हो फलत्वात न अनुष्ठेय फल तो है ही नहीं कोई परमाण संन्यास का वो फल है ही नहीं वास्तविक संन्यास करेगा तो फल है ही नहीं कोई मरने के बाद फल मिलना ही नहीं है निष्फल है तो उसका अनुसार नहीं होनी चाहिए ये शंका है तरी तब तो परमार्थ संन्यासो अफलत्वाद परमार्थ संन्यास फल फलशाली नहीं हुआ न अनुष्ठेय थे नहीं अनुष्ठेयता इतिहास फिर अनुसार नहीं होनी चाहिए उसकी जब कुछ मिलना ही नहीं तो क्यों करना अनुसार आशंका ऐसा संघ पूर्वादी के तो तस्य मोक्ष अपसायित्व आत्मा फल नहीं है मैं मत समझना मोक्ष में जाके समाप्त होता है फल जो परमार्थ सन्यासी वो फल महान फल मिल जाता है मोक्ष मिलता है ठीक <clears throat> नहीं इत्यादि कहा इसी लोग नहीं केवल दर्श निष्ठा अविद्यादि संसार भी जब न उन्मूलयंती कदाचित यही अविद्यादि जो संसार के मूल कारण है उसको उन्मूलन नहीं करते बात नहीं कर देते हमारे मोक्ष अवस्था में होते हैं वो ठीक है आगे टीका में कहते हैं ननु अपरमार्थ संन्यासवत अविशेषात अज्ञान परमार्थ संन्यास विगम न जो तो अज्ञानी के लिए अपरमार्थ संन्यास कहा तो संन्यास तो सन्यासी है ना तो परमार्थ संन्यास भी अज्ञानी को क्यों नहीं होगा जैसे अज्ञानी को अपरमार्थ सन्यासी कहा तो वास्तविक संन्यास भी तो होगा ना जो तो सन्यास तो संन्यास है एक ही है ये पूर्वादि की संख्या है नो नो अपर अपरमार्थ संन्यास जैसे अपरमार्थ संन्यास है अज्ञानी के पास है वो ठीक है प्रकार अविशेष आपको विशेष तो है ना परमार्थ संन्यास संन्यास तो संन्यास है एक ही है चाहे परमार्थ संन्यास हो चाहे अपरमार्थ संन्यास हो संन्यास तो संन्यास अविशेषात अज्ञान परमार्थ संन्यास भी क्यों न जो तो अज्ञानी है कर्मी है उनके वास्तविक संन्यास भी क्यों नहीं होगा ये शंका है त्याग से सुखत्वाद त्याग तो सुख त्यागना संभव है ना सबको जैसे ज्ञानी त्याग देते हैं परमार्थ संन्यासी उस पर यह भी त्यागने के लिए कोई परेशानी है आपके वस्तु जो वस्तु नहीं है उसको आर्जन करने में तो परेशानी है दूसरे के हक में होता है किस तरह लेना होता है त्यागने हमारे अपने अधीन है जब त्याग छोड़ो छोड़ो त्याग दो तो त्याग तो सुकर वस्तु है सुखे न कर तुम सकते सुकर अनायास किया जा सकता है ये शंका आ गई तो उसको भी परमार्थ संन्यास के किया जाए न माना जाए त्याग तो समान ही है ना ये पूर्वादि ने कहा ये कहना अतः एक शंका आ गई तो उसके उत्तर थे अतः इत्यादि अतः परमार्थ दर्शिना एवं अशेष कर्म संन्यासी तुम कहा देखो इसलिए जो परमार्थ सन्यासी होगा वास्तविक सन्यासी होगा देहभाव से ऊपर हुआ होगा उसी का ही अशेष कर्म सन्यासी तुम संपूर्ण कर्म का सन्यासी वही हो सकता है संभवती सन्यासी तुम संभवती अविद्या अध्यारोपित्वाद आत्मनि क्रियाकार फलाना क्यों वो वास्तविक त्याग सकता है जो तो अविद्या के द्वारा आरोपित है क्रिया कारक फल जो भी क्रिया है कर्म और उसको करने वाले कारक और उसका फल आत्मा में अज्ञान से आरोपित है उस आरोपित वस्तु को त्याग सकता है ज्ञानी त्याग सकता है अज्ञानी आरोपित नहीं समझता वास्तविक समझता मेरा ही है ये फल मेरा है ये कारक मेरे हैं कर्म मेरे हैं ऐसा समझता है मैं इसका करता हूं तो अविद्या के द्वारा आरोपित जो क्रिया कारक फल है अपने में आरोप आरोप करके नहीं समझता वास्तविक समझता ज्ञानी इसलिए वो त्याग नहीं पाएगा और ज्ञानी उसको अध्यारोपित मानता है आरोपित मानता है समझता है इसलिए दूसरे का क्रिया कारक फल को अपने में नहीं लाता उसको त्यागना सुखा है ज्ञानी के लिए अज्ञानी नहीं त्याग पा रहा है अपना मानता है उसको क्रियाकारक फल मैं करता हूं ये मेरा फल है मैं भोगता हूं ऐसा ये फर्क है दोनों ये कहा अतः परमार्थ दर्शिना एवं अशेष कर्म संन्यासित्व तो जो परमार्थ दर्शी वास्तविक आत्मदर्शी होगा आत्मा में आत्मदर्शी को परमार्थदर्शी कहते हैं शरीर आदि में आत्मदर्शी को परमार्थ सन्यासी परमार्थदर्शिना एवं अशेष कर्म तुम संभवती जो वास्तविक आत्मा आत्मद्रष्टा होगा वही उसी में भी संपूर्ण कर्म के त्यागी त्याग का संभावना वही होता है अविद्या क्यों कर्म अविद्या के द्वारा आरोपित है ये कहते हैं अविद्या विद्वात आत्मा ने क्रियाकारक फलाना आत्मा में क्रियाकार फल तीन प्रकार के क्रिया माने कर्म और उसका करने वाले कार्यकर्ता आदि और फल ये तीनों अज्ञान के कारण आरोपित है वो हटा सकता है आरोपित वस्तु को दूर किया कर सकता है ये मुख्य संन्यासी तो वही है न तो अज्ञा अधिष्ठान आदि क्रिया कर्तणी कारकाणी आत्मत्व न पश्यत अशेष कर्म संभव न संभव यही है जो अज्ञानी होगा मानी ये अविद्याकृत नहीं समझता अविद्या के तरह रचा गया क्रिया कारक फल नहीं समझता तो न तो अज्ञा से अधिष्ठान आदि ने क्रिया कर्तणी जो अधिष्ठान आदि जो पांच होते हैं कर्म करने वाले कौन होते हैं पांच अधिष्ठान आदि अव्य को बोलने वाले हैं पांच मिलकर कर्म होता है अधिष्ठान आदि ने क्रियाकर्त ने जो कर्म को करने वाले जो तो पांच जो होते हैं कारकाण ये जो कारक है पांच कर्म निष्पादन करने वाले पांच है आत्मत्व न पश्य जिसको आत्मभाव से देख रहा है क्रियाकारक आदि को आत्मभाव से देख रहा है पश्चित अशेष कर्म संन्यास न संभवती पूर्व नकार है संपूर्ण कर्म का त्याग करना उसको संभव नहीं है क्यों क्रियाकारक फल आदि को अपना स्वरूप मानता है ज्ञानी नहीं मानता क्यों उसने अविद्या के द्वारा आरोपित मानता है वो वास्तविक नहीं मेरे में नहीं वास्तविक ऐसा मानता है ज्ञानी इसलिए मुख्य संन्यास वही संभव है इसमें अज्ञानी में नहीं है कहते हैं तदे तत् उत्तर ही श्लोक ही दी आगे चार श्लोकों के द्वारा ये क्रियाकारक आदि को दिखाते हैं अधिष्ठान आदि जो क्रिया करने वाले वस्तु हैं कर्म जहां पांच होने पर होता है उन्हीं को चार श्लोक के द्वारा भी दिखाएंगे तदे तत् उत्तर श्लोक आगे जो चार श्लोक तेरहवें से लेकर के माने सत्रहवें तक सोलहवें तक चार श्लोकों को दल दिखाएंगे क्रिया के जो अधिष्ठान आदि जो चार मिलकर के कर्म होता है ऐसा मान कहना है ये कहना था टीका में होगा थोड़ा तस्य सम्यक दर्शनार्थ जो परमार्थ सन्यासी है ना तस्य मैंने परमार्थ सन्यासी है जो परमा वास्तविक सन्यासी है सम्यक दर्शनार्थ आत्मज्ञान है उसके पास सम्यक दर्शन होने से अविद्या में के द्वारा आरोपित कर्म अपने में मानता नहीं अज्ञानी आरोपित कर्म को अपना कर्म मानता था किंतु नहीं मानता वो तस्य बने परमार्थ दर्शिना सम्यक दर्शन आत्मज्ञान के कारण अविद्या निवृत्त हो अविद्या की निवृत्ति हो गई है आत्मज्ञान से अविद्या के नाश निवृत्ति होने से तद आरोपित क्रिया क्रियाकारक आदि निवृत्ते हेतु अर्थ का उसके द्वारा जो अविद्या के द्वारा आरोपित थे क्रियाकार आदि जो थे उसकी निवृत्ति स्वतः ही हो जाना है कारण नाश होने पर कार्य का स्वतः नाश होता है कार्य कारण की निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति हो जाती है धागा जल जाए तो कपड़े नहीं रहेंगे ये हेतु का यही कहा हुआ है अविद्या अध्यारोपित जो हेतु था उसका अर्थ यही होता है आत्मद्रष्टा में हो नहीं सकते क्यों अविद्या है ही नहीं वहां अविद्या उसके द्वारा आरोपित होने वाले क्रिया आदि कहां से रहेंगे उसके पास विद्यावतः सर्वकर्म संन्यासित्व संभावना भूतवा एवकार व्यावर्तम दर्शाई कहते हैं जो ज्ञानी है विद्यावत विद्यावान ज्ञानवान उस ज्ञानी का सर्वकर्म संन्यासित्व संभावना भूतवा संपूर्ण कर्म का सन्यासी त्यागी हो सकता है वो संभावना बताई है जो अविद्या के द्वारा आरोपित थे तो अविद्या नाश होगा तो आरोपित कर्म नहीं रहे अविद्यादि कारक है ना उसके सामने अपने में आरोप कर नहीं सकता सर्वकर्म सन्यासी तो संभावना मुक्तवा संपूर्ण कर्म के सन्यासी हो सकता है कथन करके उगता एवकार व्यावृत में हाँ, एवकार के द्वारा जो व्यावृत करना होगा परमार्थ दर्शिना एव बोला हुआ है उसके द्वारा किसको पृथक करना है इसके निवृत्ति करना एवकार के द्वारा तो उसके द्वारा व्यावृत पदार्थ को बताते हैं न तू इत्यादि कहा था न तो अज्ञस्य जो अज्ञानी है ना परमार्थ संन्यास में नहीं पहुंचा है अभी आत्मज्ञान में नहीं पहुंचा है इस अज्ञानी का अधिष्ठान आदि ने क्रिया करते कारकाणी आत्मन्वत पश्चात जो अज्ञानी क्या मानता है जो अधिष्ठान आदि क्रिया करने वाले कारक हैं कर्म करने वाले कारक उनमें आत्मरूप से देख रहा है हम्म, अपने से अभिन्न रूप से देख रहा है उनको तो उनकी अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई उसकी अविद्या की निवृत्ति न होने के कारण उसके द्वारा आरोपित क्रिया आदि अपने में देखता है वो यही है अविदेशो अशेष कर्माणाम हेतु नाम च रागादिनाम त्याग अयोग्य जो अज्ञानी होगा ना संपूर्ण कर्म का कर्म का और उसका हेतु कर्म का हेतु अज्ञान राग जो होते हैं कर्म के कारण तद हेतु नाम मान कर्म हेतु नाम राग नाम इत्यादि है राग आदि नाम त्याग अयोग्य त्यागने के बाद कर्म का भी त्याग नहीं कर पाता उसके कारण जो रागद्वेश आदि है उसको भी त्याग नहीं कर सकता ज्ञानी है कारकेशु अधिष्ठान आदि शु आत्मत्व दर्शन हेतु वहां क्यों ऐसा कर्म को त्याग नहीं पाता अज्ञानी उसके कारण राग द्वेष आदि को भी त्याग नहीं पाता कर्म के कारण राग द्वेष के द्वारा कर्म होता है तो इसको क्यों नहीं त्याग पाता इसमें कहते हैं उसके त्याग के असंभावना में कारकेशु अधिष्ठान का कारक है कर्म करने वाले कारक है अधिष्ठान आदि पांच होते हैं तो उनमें आत्मबुद्धि करके बैठा हुआ है आत्मत्व दर्शन है मैं ही करने वाला हूं इत्यादि मान रहा है शरीर में आत्मबुद्धि है कर्म करने के शरीर अधिष्ठान होता है उन कर्मों में आत्मबुद्धि उसकी है इत्यादि पांच कहेंगे अभी अधिष्ठान तथा करता इत्यादि कर्म के तो पृथक विदम आदि बोलेंगे उनमें आत्मबुद्धि है इसकी इसलिए कर्म और कर्म के कारण राग द्वेष आदि को त्याग नहीं पा रहा है ये कह रहे हैं ये कहा था क्रिया इत्यादि कहा था क्रिया कर्तृण कारकाणी आत्मत्व पश्यत अशेष कर्म संन्यास न संभवती इत्यादि कहा था ठीक है बोलते हैं आगे कथम अधिष्ठान आदि नाम क्रिया कर्तृत्व अधिष्ठान आदि कर्म के कर्ता कैसे बनेंगे यह प्रश्न है अधिष्ठान आदि क्रिया करने वाले वो है कर्म करने वाले कैसे माने जाए कथम अधिष्ठान आदि नाम क्रिया कर्तृत्व क्रिया के कर्ता कैसे बनेंगे अधिष्ठान आदि जो पांच बताएंगे आप और कथम च अविदुषो अविदुषो तेसु आत्मबुद्धि और क्रिया माने अधिष्ठान आदि में आत्मबुद्धि अज्ञानी का क्यों होता है किस प्रकार होता है तेसु माने अधिष्ठान आदिशु कैसे होगा इति जैसे आसन का कर अनंतर श्लोक चतुष्ट ऐसे तात्व है आगे आने वाले चार श्लोक हैं तेरहवें से लेकर के सोलह तक चार श्लोक हैं उनके तात्पर्य बताते तदे तत्य उसी बात को यहां कहेंगे चार श्लोक के द्वारा कैसे वो क्रिया कार्यकारी के द्वारा कर्म होता है दिखाना चाहते हैं एक कहना है एक कहना है आगे श्लोक है ना पंचे मानी महाबाहो कारणानी निबोध में

जैसे गीता प्रेस आदि प्रकाशन में पंचयितानी वहां तत्त शब्द का प्रयोग किया ये इदम शब्द का प्रयोग बात एक ही है ये सन्निकृष्ट नजदीक है इसलिए इदम शब्द के द्वारा प्रयोग किया है वहां तत्त शब्द के द्वारा प्रयोग हो उस प्रकाशन में दोनों सन्निकृष्ट भाष्य होते हैं दोनों शब्द अर्थ एक ही आएगा पंचयितानी महाबाहो अब जिसमें रखते हैं पढ़ते हैं वहां एतानी पढ़े रहे पंचयितानी पंचयितानी और यहां पंच इमानी इदम शब्द प्रथम बहुवचन है पुलिंग में इमानी नपुंसक लेव कहा इमानी तो यहां इदम शब्द का प्रयोग किया हुआ है और यहां पंचायतानी बोलते हैं यथ शब्द का प्रयोग अर्थ एक ही दोनों का सन्निकृष्ट वाचक होते हैं दोनों यहां इमानी कहा हुआ है इदम इवे इमानी इमानी बोला लिखा है यह आनंदाश्रम था पूना में उसके प्रकाशन से लिया गया है अब वो मैंने उपदेश ही समाप्त हो गया आनंद आश्रम संस्कृत ग्रंथ के मैंने बहुत बड़ा प्रकाशन था अब समाप्त हो गया पूर्णांत में था उस पुस्तक से ये लिया गया है प्रिंट वहां से लिया है सिद्धि तो यहां उस प्रकाश में पंच ईमानी लिखा हुआ है उस पुस्तक के आधार पर आनंद आश्रम जो बदरण है वहां के माध्यम से है और आजकल जब पाए जाते हैं पंचयितानी है गीता प्रेस आदि में पंचयितानी पाठ है ये तत्सव का प्रयोग है अर्थ तो एक ही है चाहे ये से बोलो चाहे इदम से बोलो बात से बोलते हैं ये हा ये, ये पांच यह आगे कहने वाले ऐसे बोल रहे अब ये भी कहना है पंचे इमानी पांच ये जो पांच है इमानी पंचा ये जो पांच हैं हे महाबाहो हे कुंती पुत्र अर्जुन हे महाबाहो कारणानी बोध हमें कारण समझो सारे कर्मों की सिद्धि के लिए कारण शब्द कोई भी कर्म होना ये पांच चाहिए ये पांच के बिना कोई भी शुभ कर्म कोई भी नहीं होगा सांख्य कृतांत पुरता ने कहा सांख्य वेदांत है उपनिषद में कहे गए कृतांत मैंने कर्म का जहां अंत हो जाता हो हाँ। वेद में जाके अंत होना मैंने उपनिषद में जाकर उपनिषद भाग में कर्म का अंत होता है वहां तो न कर्मणा प्रजया धने ना त्यागे नहीं कि अमृत मानस इत्यादि है कर्म का अंत कर देते हो कृतांत मैंने कृत मैंने कर्म किया हुआ का अंत होना जहां कृत से अंत हो इसमें सांख्य सांख्य शास्त्र वेदांत है परिषद प्रोक्तानी पांच कारण बताया हम्म, कर्मों का कारण पांच बताया सिद्ध है सर्वकर्माम सिद्ध है सारे कर्म पुण्य पुण्य जो भी कर्म होंगे शुभाशुभ कर्म उनके सिद्धि के लिए पांच कारण कहा गया है और पुण्यापुण्य कर्म के पांच कारण बन गए पांच कारण जो होंगे वो अविद्या के रचित अविद्या के द्वारा रचित हैं तो उस अविद्या के द्वारा रचित कारणों से उत्पन्न कर्म अविद्या अविद्यक होगा इसलिए आत्मा में कर्म नहीं है ये सिद्ध करना है ये कहना चाहते हैं ज्ञानी के पास आत्मा कर्म ज्ञानी ने अज्ञानी का अज्ञान का नाश कर दिया तो अविद्या के द्वारा रचे गए कर्म नहीं हो सकते इसके लिए पांच कारण दिखाते कर्म का ये है पंच इमानी महाबाहो ये महाबाहो पांच ये जो तो पांच हैं कारणाने कारण हैं किसका सर्वकर्मा सिद्ध है कारणाने सारे कर्मों की सिद्धि में जो पुण्य कर्म हो पाप कर्म हो अथवा विस्तृत कर्म हो तीन प्रकार के कर्म को कोई भी कर्म मात्र की सिद्धि के लिए पांच कारण होते हैं ये कहा हुआ है कहा निबोधन में मेरे से तुम जानो विशेष रूप से समझो इस बात को सांख्य कृतांत प्रोक्तान का कर्म का जहां अंत हो जाता है उसको कृतांत बोलते हैं अंत मान कर्म है जहां अंत होगा वहां जाकर के वहां कहा वेदांत में कहा हुआ अपने में कहा हुआ है वहां कहा हुआ को सारे कर्म की सिद्धि के लिए पांच कारण होते हैं तुम मेरे से समझो ये कह रहे भगवान पंचयमानी बक्षमाणानी इदम शब्द आगे के लिए आगे कहे जाने वाले हैं कारण पांच कारण पांच कारण बताएंगे इमानी वक्षमाणी आगे कहे जाने वाले जो कारण हैं ये महाबाहो कारणाने निवर्तकानी निबोधन कहते हैं कार्य को संपादन करने वाले को कारण बोलते हैं निर्वर्तकानी संपादन करने वाले कार्य की सिद्धि करने वाले पांच होते हैं पांच मिलकर के कार्य एक संपन्न होता है कोई भी कार्य में पांच होते हैं कारण निबोध हमें माने ममा इति कहा मेरे से समझो तुम बुधा बुद्धावगमन जानो नितराम बोधा निबोधा मैं नहीं बोला मेरे से जानो पांच कारण होते हैं गर्भ मात्र के यही है उत्तरत्र चेत समाधानार्थम ये जो आगे के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए कहा पांच कारण होते मेरे से तुम जानो एकाग्र चित्त एकाग्र करो सुनो कौन कौन कारण होते हैं कर्म मात्र के लिए ये कहने के लिए आगे जो होगा श्वेत समाधानार्थम चित्त के समाधान एकाग्रता के लिए कहा है निबोध हमें बे निबोधा मेरे से जानो समझो ये कहा श्रोता के चित्त समा एकाग्र करने के लिए कहा वस्तु वैषम्य प्रदर्शनार्थम वस्तु की विषमता है माने आत्मा में नहीं है दिख रहा है ये पांच कारण से होने वाले कर्म वस्तु में विषमता दिखाने के लिए या ज्ञान की वस्तु हैं आत्मा की वस्तु नहीं है ये कहने के लिए वस्तु वैषम्य प्रदर्शनार्थ में कहा एक तो चित्त को समाधान भी करना है एक तो वस्तु की विषमता दिखानी है तुम्हारे स्वरूप में कोई भी नहीं है वस्तु की विषमता दिखानी है तानि कारणानि ज्ञातव्यतया तवती उन कारणों को ज्ञातव्य रूप से प्रशंसा करते हैं मेरे से जानो इत्यादि बोला जानने योग्य है समझने योग्य है तो त्यागने के लिए समझना पड़ेगा सांख्य ज्ञातव्या पदार्थ सांख्य कृतांत कहा था तो सांख्य में वेदांत में ज्ञातव्य जो पदार्थ है संख्या यंत्र इसमें शास्त्र ज्ञातव्य पदार्थ आत्मात्मा जो पदार्थ दो प्रकार के पदार्थ होते हैं जो गिने जाते हैं गिने जाते हैं जीवन ये आत्मा है अनात्मा है जहां कहां वेदांत में होता है इसमें शास्त्र जिस शास्त्र में ऐसा होगा तब वेदांत उस शास्त्र को सांख्य का वेदांत या सांख्य ऐसा है उपनिषद को सांख्य कहा कृतांत यदि तो तस्य भी विशेषण उसी सांख्य का विशेषण कृतांत है सप्तमंत है वो कृतम इति कर्म उचित है कृतम का अर्थ कर्म वो अंत होता है जिसमें कर्म का जहां अंत होता है उपनिषद में जाके अंत होता है कर्म का कर्म उचित तस्य अंत कर्म का जो अंत है तस्य परिसमाप्ति है अंत का कर्म का जहां समाप्ति हो जाती है जहां पहुंच उसको कहा सांख्य कृतांत है सांख्य में हो रहा हो वेदांत यश्य यत्र जहां जाके समाप्त होगा कहा कर्म का जहां समाप्ति होगी वही कही सकृतांत उसी कृतांत कहा कर्मांत इतने में कृतांत करते कर्मांत कर्म का जहां अंत हो जाता है समाप्ति हो जाती है जहां पहुंचने पर कर्म नहीं हो सकता ऐसा शास्त्र है जैसे द्वितीय अध्याय में कहा था यावान अर्थ उदा है सर्वता संप्रत हो के तावान सर्वेश ब्राह्मण जानता कहा था आत्मवेदता जो पुरुष होगा उसके सामने जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद जो भी हो कर्मकांड पर वेद के जितने भी कर्म बताए गए क्या होगा जैसे समुद्र मिल जाने पर कुआ का जितना प्रयोजन रहेगा क्या प्रयोजन रहेगा कुआ का कोई प्रयोजन नहीं है ठीक इसी प्रकार होगा उस आत्मभाव में पहुंचने के बाद कर्म के कोई प्रयोजन नहीं होगा जब शरीर भाव में होगा तब कर्म का प्रयोजन दिखता है आत्मभाव में पहुंचने के बाद इसके लिए दृष्टान दिया यावान अस्त्र उदापान में संपूर्ण उदापान में कुआ समुद्र भरा हुआ है उसका कुएं के क्या मतलब पानी खींचने की क्या जरूरत है कोई प्रयोजन नहीं होता कुआ का उसके लिए ठीक इसी प्रकार है जो आत्मवत्ता के सामने कर्मकांड पर वेदों से जन्य कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं है इत्यादि कहा थी और चतुर्थ अध्याय कहा था सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञान पर समाप्त थे सारे कर्मों कर्म का कर्म संपूर्ण कर्म है पार्थ ज्ञान में जाके समाप्त हो जाते हैं ज्ञान होने पर कर्म की समाप्ति हो जाती है कर्म रहा ही नहीं ऐसा कहा इति आत्मज्ञान संजाते आत्मज्ञान होने पर अपना स्वरूप का ज्ञान होने पर सर्वकर्मान निवृत्ति है दोनों श्लोक संपूर्ण कर्म का निवृत्ति दिखाते हैं द्वितीय अध्याय का श्लोक है यावान और सुतपान अथवा सत्र तहते सर्व सर्वकर्मा के लंपार्थ ज्ञान है अतः तस्मिन आत्मज्ञानार्थ है सांख्य जो आत्मज्ञान के लिए होता है सांख्य माने वेदांत किसके लिए आत्मज्ञान के लिए सांख्य कृतांते वेदांते वेद के अंत में प्रोक्तानी कहा है कोई भी कर्म के लिए पांच कारण होता है करके कहा है उपनिषद में कहा बात बोलते हैं प्रोक्तान में कथितानी कहा है सिद्ध है निष्पत्ति अर्थम सर्वकर्म कहा सारे सर्वकर्मा निष्पत्ति निष्पत्त्यर्थम सिद्ध है सिद्धि के लिए सारे कर्म की सिद्धि के लिए पांच कारण होते हैं पांच कारण के बिना कोई कर्म की सिद्धि नहीं होती सुभाषु कोई भी कर्म करना हो पांच कारण होते हैं वो उपनिषद में ऐसा बताया हुआ है तो उबेर से सुनो तम ऐसा कहा यह कहा हुआ है ठीक है वो कहते हैं अतः परमार्थ अतः परमार्थ संन्यास परमार्थ दर्शिना एवं अशेष कर्म संन्यासी तो विचारेगा उसका टीका है तस्य मैंने परमार्थ दर्शिना जो परमार्थ दर्शी है ना उसका सम्यक दर्शना अविद्या निवृत्त तथा आरोपित कारक आदि निवृत्त हेतु यही दिया है अविद्या अध्यारोपित तत्वाद कहा था अविद्या के द्वारा आरोपित कर्म थे ना इसलिए उसकी निवृत्ति हो जाती कहा विद्यावत सर्वकर्म संन्यासी तो संभावना मुक्त ज्ञानी को सभी कर्म का त्याग हो सकता है सन्यासी हो सकता है ऐसा कथन कर एवकार व्यावृत दर्शे एवकार के द्वारा व्यावृत्ति दिखाते हैं न तो सन्यासी नाम को कहा है ये कहा हुआ था न तो अज्ञा से अधिष्ठान आदि क्रिया करते कार्य आत्मत्य न पश्य तो जो अधिष्ठान है क्रिया कार्य को जो आत्मभाव से दिख रहा है सर्वत्र मईपना कर रहा है हम हम परा है उसके उसके लिए अशेष कर्म संन्यास न संभव है संपूर्ण का त्याग हो नहीं सकता ये एवकार के दिन प्रति ने कहा अविदोष अशेष कर्माम तद हेतु नाम रागादि नाम त्याग आयोगे जो अज्ञानी होगा उसके संपूर्ण कर्म का उसके हेतु होते हैं रागादि कर्म के कारण राग द्वेष से कर्म करता है त्याग नहीं हो सकता और कारकेशु अधिष्ठानादिशु आत्मदर्शन में तो वहां क्यों ऐसा होता है उसको राग द्वेष क्यों होता है कर्म में क्यों होता है जो कारक है अधिष्ठान आदि कारक पांच उसमें आत्मबुद्धि कर लेता है वो इसी कारण से उनमें आत्मबुद्धि करने से क्या होगा राग द्वेष पैदा हो जाता है राग द्वेष पैदा होने से कर्म करता रहेगा कर्म की निवृत्ति नहीं हो पाती अज्ञानी हो क्रियाकारक इत्यादि सबसे कहा था कर क्रिय कारकाणी आत्मा में उपस्थित तो अशेष कर्म संन्यास न संभवती यही कहा ठीक हम कहते हैं कथम अधिष्ठान आदि नाम क्रियाकर्तृत्व अधिष्ठान आदि कर्म के कारण कैसे वो कर्म के कर्ता कैसे बनते अधिष्ठान आदि एक प्रश्न और कथम बा अविदुष तेसु आत्मतुथि हाँ उनमें क्रिया करते तो कैसे आता अधिष्ठान आदि में क्रिया कैसे करते कर्म कैसे करते हैं वो उसमें आत्मबुद्धि अधिष्ठान आदि में आत्मबुद्धि अज्ञानी का कैसे होती है दो प्रश्न है दो है अविदुषो बने अज्ञानी का अशेष कर्म कथम अधिष्ठान आदि नाम क्रिया कर्तृत्व जो अधिष्ठान आदि में क्रिया का कर्तृत्व कैसे आएगा करता तो शरीर में होता है अधिष्ठान आदि में कैसे होगा एक दूसरा कथम बा अभी दूसरा तो तेसु आत्मबुद्धि फिर वो अधिष्ठान आदि में आत्मबुद्धि कैसी हो जाती है तेसु अधिष्ठान आदिशु अधिष्ठान आदि में आत्मबुद्धि किस प्रकार ये दो प्रश्न है ऐतिहासंग अनंतर श्लोक चतुष्ट तो तात्पर्य आगे के चार श्लोक के तात्पर्य बताते हैं कहा था तदेतत उच्चते इत्यादि है तदेतत उत्तर श्लोक दर्शित आगे चार श्लोक के द्वारा ही दिखाएंगे इस बात को मान अधिष्ठान आदि कैसे कर्म के कर्ता बनते हैं और अज्ञानी उनमें आत्मबुद्धि कैसे कर लेता है ये दो का उत्तर चार श्लोकों के देते हैं कहना है कर्मार्थानाम अधिष्ठानादीनाम अप्रामाणिकत्व आशंका आदो उद्धर दे जो कर्मार्थ कर्म के लिए होते हैं ना अधिष्ठान आदि कर्म करने के लिए होते हैं अधिष्ठान आदि अधिष्ठान आदि नाम अप्रामाणिक तो आशंका प्रामाणिक नहीं है ये जो शंका है उसके आदव उद्धर उद्धार करते नहीं अरे बाबा वेदांत में कहा उपनिषद में कहा कैसे नहीं है पांच कर्म के कारण पांच बताया उपनिषद में बताया तो कैसे वेद बोल रहा है कैसे झूठ मानेंगे उसको प्रमाण है अप्रामाणिक नहीं है वो पूर्वादि ने अप्रामाणिक तो शंका उठाई थी उसको उत्तर दे रहे हैं पंचयिता पंचयमानी इत्यादि शब्द कहा है मूल में कहा पंचयमान महाबाहो कारण इत्यादि कहा भाष्य में भी वही है पंचमाणी वही है उत्तरत्र अधिष्ठानादिशो बक्षमाणिशो इत्यर्थ आगे उत्तर श्लोक का उत्तरत्र इत्यादि कहा था पांच कहा था ना आगे कहना बोला था उसको आगे कहने वाले वाक्य हैं जो चार श्लोक और आएंगे वस्तुराम तेसाम एव वैषम्यम निर्दर्शितम नहीं चेत समाधान धृते ज्ञातुम शक्य थे कहते हैं वस्तु नाम है वे साहब वो जो पांच वस्तु है ना अधिशानाद जो वस्तु है एवं वैषम्य में विषमता है वस्तु में विषमता है वैषम्य निदर्श ही सितम उसी में निर्देश करना है निर्देश समाधान आदृत या तो सके उनमें जो विषमता देखनी है अन्यत्र का अधिकार आदि को अन्यत्र आरोप करना आत्मा विषमता देखनी है चित्त एकाग्र के बिना संभव नहीं है इसलिए कहते हैं निबोध हमें करके कहा भगवान ने बोल गए पंचमान एकाग्र चित्त समाधान के एकाग्र बिना संभव नहीं वो वस्तु की विषमता दिखा सांख शब्दम व्युत्पादी कहा सांख्य कहा था सांख्य कृतानी कहा था कृतांत प्रोतानी सांख्य शब्द को लगाते हैं क्या सांख्य ज्ञातव्या पदार्थ मान संख्यायंते इसमें शास्त्र तत्सांख्यम जो ज्ञातव्य पदार्थ जहां गिने जाते हैं कौन कौन होते हैं ज्ञातव्य पदार्थ उनको जहां गिना जाता है उसको सांख्य कहा गया कौन है वेदांत है ठीक है तो सांख्य वेदांत कहा ठीक है कहते हैं आत्मा आत्मा तम पदार्थ तत्पदार्थ ब्रह्म ये दोनों जानना है आत्मा तुम पद का तत्व में आया तुम पद का अर्थ आत्मा प्रत्येक और तत्पद का अर्थ होता है ब्रह्म और ऐक्य उनके जो ऐक्य ज्ञान है अहम ब्रह्माष्टमी ज्ञान वृत्ति तद उपयोग श्रवणादय उसके उपयोग होते हैं कौन श्रवण मनन निध्यासन आदि जब तक ये नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा पदार्थ ये पदार्थ होते ज्ञातव्य पदार्थ यही होते हैं वेदांत में आत्मा तम पद का अर्थ और ब्रह्म तत्पद का अर्थ और उनका जो ऐक्य है ऐक्य दी जो है तो उसका उपयोगी जो सर्वादि ऐक्य ज्ञान होने के लिए सर्वादि जाए श्रवण मनन निध्यासन आदि ये सब पदार्थ यही पदार्थ होते ज्ञातव्य पदार्थ वेदांत में पदार्थ ते संख्या इतने व्युत्पादन उनकी वित्पत्ति जहां हो रही होती हो कहा उपनिषद में होते हैं बातें यदि सांख्य कहा हुआ यहां कृतांत शब्द से वेदांत विषय तो विभाजित है कृतांत भी वेदांत का विषय है कृतांत उसी का विशेषण है सांख्य का ही कृतम इत्यादि कहा था कृतम इति कर्म उचित कृत शब्द का कर्म कहा जाता है तस्य अंत उस कर्म का अंतर कृत से परिसमाप्ति कर्म का जो परिसमाप्ति है यही है यत्न जहां हो उसको कृतांत कहा जाता है सकर कर्मांत यही है कृतांत का अर्थ कर्मांत यही सिद्ध होता है ठीक है कहते वेदांत से तत्वधि द्वारा वेदांत जो है ना मान उपनिषद क्या करे आत्मज्ञान के द्वारा कर्म अवसान भूमि ते कर्म का समाप्ति का भूमि है वेदांत आत्मज्ञान आत्मज्ञान होने पर कर्म नहीं हो सकता बोलता है वो कर्म का अवसान का भूमि है समाप्ति का भूमि होने पर वाक्योपक्रम अनुकूल्यम दर्शाती वाक्य को उपक्रम का द्वितीय अध्याय भी चतुर्थ अध्याय जो कहा था भगवान ने उसी को अनुकूलता दिखाते हैं यावान अर्थ होता है सर्वतः संपूर्ण उत्पाद में कुपाद और कुपाधि के कोई प्रयोजन नहीं रहता जब समुद्र है सामने पूरा पूरा भरा हुआ समुद्र पहुंच जाए तो उस स्थिति में कुआ आदि का कोई प्रयोजन नहीं होता कुआ का नदी का तालाब का कोई प्रयोजन नहीं होता ठीक इस प्रकार माने यावान अर्थ मैंने स्नात स्नान आदि जो स्नान आदि प्रयोजन था ना वो नहीं रहेगा समुद्र आने पर मिलने पर वो आदि का जो स्नान आदि के लिए प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तावान अर्थ उसी प्रकार के समुद्र संपत्ति थे उतने अर्थ समुद्र में होता है जो कुआ आदि से जो प्रयोजन सिद्ध होना था समुद्र में सिद्ध हो जाता वो कुआ आदि की आवश्यकता ठीक इस प्रकार आत्मज्ञान में सभी कर्म का अंतर्भाव हो जाता है सभी कर्मों का फल का अंतर्भाव हो जाता है आत्मज्ञान होने पर कर्म की आवश्यकता नहीं है एक आधार है अतो यथा कुपादि कृतम कार्य जो कुआ आदि से होने वाला कार्य क्या था स्नान पान आदि था कृतम कार्य सर्वम समुद्र अंतर्भवंती भवती सारे के सारे कार्य समुद्र में अंतर्भूत हो जाता है तो समुद्र मिल जाने पर कुआ आदि का प्रयोजन नहीं रहेगा तथा उसी प्रकार सर्वेश्वेदेश वेदेशु सारे वेदों में मान कर्मकांड पर वेद कर्मार्थ है कौन सा वेद कर्मकांड पर वेद उसमें यावत फलम जितने फल बताया गया है वह तावत ज्ञान वो तो ब्राह्मण से ज्ञान है अंतर्भवती कहा उस पर जो ज्ञानवान जो ब्राह्मण होगा माने साधक होगा उसमें अंतर्भूत हो जाता है ज्ञान प्राप्त से ज्ञान प्राप्त कर गया जिसने प्राप्त कर्तव्य अनवशेषात कर्तव्य अवशेष नहीं शेष नहीं रहेगा उसका ज्ञान प्राप्त होने पर कर्तव्य कर्म का कर्तव्य समाप्त है उसका यही है तत्र वाक्यांतरम अनुक्राम उसी में अन्य वाक्य है उसको लाते हैं कौन वाक्य है माए ये सर्वकर्म सर्वम कर्म खिलम पार्थ समाप्त कहा है उदाहरित वाक्य तात्पर्य में ये दो जो उदाहरण दिया वाक्य है यावान अर्थ होता पाने और सर्वम कर्मा खिलम पार्थ उदाहरण दिया हुआ वाक्य उसका तात्पर्य आत्मा इत्यादि शब्द कहा हुआ है आत्मज्ञान है संजाते सर्वकर्मा निवृत्तिम दर्शे दोनों वाक्य क्या दिखाते हैं आत्मज्ञान उत्पन्न होने पर सारे कर्म की निवृत्ति होती है ये दिखाते हैं ये दो वाक्य व्यावर और सोतपान आदि जो दो वाक्य दिया है हाँ, वो वही बातें बताते हैं कहा आत्मज्ञान सती सर्वकर्म कथम वेदांत से कृतान तत्व इतिहास कहते आत्मज्ञान होने पर सर्वकर्म निवृत हो सारे कर्म की निवृत्ति होने पर भी कथम वेदांत से कृतांत तो फिर उपनिषद में कृतांत कैसे फिर भी आत्मज्ञान होने पर कर्म की समाप्ति हो जाएगी ठीक है कार्य कर्म न रहने पर भी कथम हाँ। वेदांत से कृतांत तो वो कर्म का अंत कैसे बोलेंगे उपनिषद को वो तो आत्मज्ञान होने पर समाप्त होना है ना किसमें कर्म की समाप्ति कहा आत्मज्ञान होना तो वेदांत में कर्म के सांख्य कृतांत कर्म का अंत कैसे बोला इस संख्या आगे तो कहा अतः एक कहा हुआ है अतः तस्मिन आत्मज्ञानार्थ आते कि वेदांत किसके लिए होता है आत्मज्ञान के लिए अतः तस्मिन आत्मज्ञानार्थ जो आत्मज्ञान है आत्मज्ञान होने पर कर्म की समाप्ति है उस आत्मज्ञान के लिए है वेदांत उपनिषद सांख्य ये है कृतांत वेदांत प्रोक्तानी कथितानी सिद्ध निष्पत्त्यर्थम सर्वकर्म सारे कर्मों की निष्पत्ति के लिए माने सिद्धि के लिए सारे कर्मों की सिद्धि के लिए कहा ये कहते हैं कहानी मधुवचन वचन हो निबोध यदि पूर्वण शब्द वो जो पांच अधिष्ठान आदि है ना वो मेरे वचनों से तुम समझो ये पूर्व के साथ संबंध करना वो जो पांच है ना प्रवक्तानी कथितानी तानी जो पांच अधिष्ठान आदि हैं उनको मेरे वचनों से सुनो भगवान ऐसा बोला है निबोध में पूर्व के साथ में ले जाकर अनुभव करना तानी लगा के कहा समय हो गया है नहीं रखता फिर कर ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम